कटावटी में करता है क्या उसी को वो झट आपका तरीका अलग तरीका હું કરતા थे મારે અલગ તરીકો શીખ્યો હતો મારે હોશિયાર હતો ફરી મારા મમ્મા આપણે તો તરીકો બતાવું બધી વાર ભાઈ હું બતાવી ડેટી ખોલી છે મારે આમ बीमार नहीं था मिले मारे दस ग्राम के हिसाब लगाएंगे दस ग्राम सौ ग्राम ले जाएंगे सौ ग्राम ढाई ले जाए मिला पच्चीस में के अलावा ग्राम ले छोटे को बात दस ग्राम पच्चीस में किलो है और दस ग्राम हिसाब वो मारे नहीं अब भी थंगड़ा फिर नहीं मारे दस ग्राम सौ ग्राम का ढाई रुपया तो पच्चीस पैसे है तो भैया दस मिनट ने बुला लिया हम क्या पच्चीस हजार वो तो सीधे साहब बैठ गए अब ये किया करा वही चाल तो अब आप आपने बात चालू करा तो आपको सुनना सुनना भगवान सीधा बैठा करे वाड़ो आप बोल रहा अठा करे वाड़ो आप જેની પઢાઈ કરી પાછી પઢાઈ કરાઈ વીર મહિને એક अक्षर बोध कराना तो वो अक्षर बोध की कर कराता है अक्सर उस तो में पार्टी में लिखा था अब तो थोड़ा ना आज में कापी हाँ कापी है ना आज ये कापी ली इस पर डोका भी रहा था कलम फर्स्ट में कौन कौन बीस बार मतलब મતલબ લિખાવર કામ કરવાનું पहला कोई चीज याद करा देता कि हाँ याद आओ सीधो कक्षा बार के मैं सब पता लिखा पदाधिकारी लिख दे बा सीधो वरना है ना सीधो वरना मुंह वरना लिख देते ना अब वो सीधो वरना के टावर के दवाई तुम यहाँ गाने देता है सीधो वरना याद है आपने की करके ही दे देगा सीधो वरना आया जतुर दासा दौ सुमारा दिशी समाना पारो दिगासा वरना मुझे नाम से पढ़ना नहीं तो एक दिन भैया आराम से ले लेते लिखो बुलाया अब आपने पूरे हाँ, वो पूरा दिमाग जाना बाबू कटी लिखी होगा आपने वो तो वो लिख लिया दिमाग लिखा रहा हूँ एक तो आप ये लिख दीजिए आप अंदर लिखे भी वो तो- सीधा आगे नहीं हमारे पढ़ने माँ का मावक तो सीधा आता सीधा है वो सारी समझ सीधा बना सीधा भी सीधा मतलब? आप जी को कहीं आप उसमें बन दत्तो सो सर दत्तो ही परदेशी थे आदमी हो उठा थाने हजार रुपया दे दिया कहीं काई बात बंदी ने बेटी ना हजार दे दिया बागली कहीं नहीं तो दिनों भाई पांच हजार मांगवा पांच से देना देते તો આની નહીં દેવું સુરજો સુસા ભણજો तो वाह नहीं भाई तो सरे और आगे तो और थोड़ा सीधो बरना सीधो बनवाए भाई सीधो भरने अपना चार बनना है सीधो भरना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध चार भरना बाकी तो सब कौमियों की फिर ये तो प्रभु ने आधू बना है ऐसी सीधो बने तो वर्ण सीधा रखना घात अच्छा। वाली कुछ नहीं करना समावनाया सबके मान है संभावना या मुनि महात्मा ने किसी पे शत्रु शत्रु उदासा शत्रु तो वही संसार का मान है ऐसे शत्रु है विको विदासन और मित्र है विको विदासन तो हमारा कोई काम ना करो ना अच्छो सोच समझ कर इसी समाना सारा में जागो मान है दिशारों बाहर जावे संभाव शरीर बड़े व्याप भी नहीं करनी देखो दूधिया भरना एक देख भरण से सबने ने ध्यान करो भरण भी पारो दीर्घा भरना उपकार है उपकार भी करना सारो भरना सब भरना उपसार करना बिना पारो जान लिखे तो पूरा था था पूरा बैठा है એટલે अच्छा, आप समझाओ इस बात को भी मैं लिखवा में तो आवेला को नहीं हाँ तो बना है हाँ तो वो लेकिन जो आप लोग समझा रहे हैं वो वो बात अलग ये से फिर जब वो एक बार लिख दें तो फिर आप वापस इसको रिकॉर्ड कर वो लीजिए क्या है कि मैं तो इधर से निकलता रहता हूँ हाँ तो एक बार इनसे पूरा कल तो लिख लेंगे हाँ फिर एक दिन हम ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि वो वापस रिकॉर्ड और आप कहते हैं मैं बना तैयार कर देता जाएगा ये बात आप संवत पिचानवे साल में पढ़ाई छोटी बेटा पिचानवे साठ वर्ष हो गया पचास वर्ष भी नहीं छोड़ी थी छोड़ी थी आप उम्र कितनी है आपकी और हाँ, पाँच साल साठ वर्ष की पाँच साठ पाँच पाँच आंकड़ा साठ अब पहली वाली पढ़ाई मांगे थी आ है घणो फरक कोनी तो मैं चार साल फरक है <laughs> पहला तो ये हटा देता आप समाज टावर जो भी आप बने तो आप जो कोई पोशाक जो चलाता है या यूं ही कुछ शौक को कोई जाना आ जाता है उन्हें पटा देना ये पड़ता साहब पाँच रुपया महीना किस जमाना में दो रुपया तीन रुपया आने देता हूँ दस तोड़ा में ढाई रुपया होता हमारा दस तोड़ा चार एक बच्चा का चावने देता हूँ पर चारण होता तो। है तो आ तो लेकिन मतलब चारण देता है मतलब लेकिन अब और हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। तो मतलब, तो अक्षर बोध की बात तो आप बता दी और गणित कहीं करता गणित मैं करता अब एक दो आवे ना एक दो आता एक दो तीन चार सोचे गणित इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस चालीस तेईस उनतीस को पाओ और इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचास चालीस का भाव चालीस चालीस का भाव अपना था हाँ। आ गुणाकार जोड़ या गुणाकार या अच्छा अब तारीख ये दिखाई है अब तो नहीं होती चार हाँ, हाँ सवाया पहले सवाया पड़ा था पड़ा हाँ। था तो तीन घूटा कहता तो साढ़े चार ने कहता था कहते होंगे टोका पचहत्तर पुणे पुणे में पुणे दो तीन पुणे सात दो चार पुणे पुणे पाँच पुणे पुणे चार पुणे साढ़े चार सात पुणे चार आठ पुणे छः नौ पुणे पुणे दस पुणे साढ़े छः ग्यारह पुणे सोलह मैंने आप पढ़ाई પછી હવે ઢાઈ દોઢી પૂણી ચાર દોઢા પાવડા કે પાવડા બધું પડે अब ये नहीं जो ये जो रटाना पड़तो રેટાણું तो वे आप खुद रटाता खुद कि आप रटाता। कोई के वो टावर जो है तो तैयार हुए तो भी नहीं कहते भाई तू रटा दी में मांगनी होती सा हाँ, अब बाहर तो सरकारी परमिट करे वाला है हाँ। वो संभाल वाला है कोने मां गना को बाप बार बैठ तो मीनू हो तो ये ये बच्चा अब करता संभाल वाला बच्चा ने जो हाँ। महाराज पीछा गुंजूला और बच्चे तो तुम्हारा पावड़ो गुंजा ने हम आपने सही को योग्यता लड़को होना अब महाराज पास तो तुम्हारे पास है नहीं बाकी ये मार साहब ना अनपू तो किसी के लिए अनपढ़ अनपू तो आप ये अपने अम्मा जानो बन दिए कान कवे भाई छोरा ने थोड़ा बहुत तो तोड़ू एक छोरा पकड़ा भी आंख ने अब मार साहब दूसरे दिन तो खोल सका कि छोरा ने मोइन सब खुला सकू एक तीन साल की जरूरी है तीन साल तो छोरा फटफेट कर दिया था वह दिन तो महाराज माल नहीं को तीन साल पर फिर तो योग्यता सुनो पढ़ू पर पढ़ा मैं कहीं तक सुबह कार बैठता महाराज हम्म। तो दो पारी का छुट्टी दी रोटी खा पा तो डाला गाँव में मरवा बढ़वा जाता ने तो बेटा रोटी बेटा खा लेता जमा कोनी तो खेली पटा का मान मारा पिताजी कहता बाबू जी बेटा पानी पिया पानी पानी तो कहता बेटा एक मार साहब गुरु मारा घोड़ो ये घोड़ा पानी पा जाता तो बेटा वो खेलीकोटर जानवर की मारो खेलीकोटर कोटो भरे એમને પાણી હવા લાવે પડશે તો કે બેટા ખોટા પાણી પી લેવર કાંઈ હોય વિદ્યા પડની આપણને અહીંયા પડતા જાને પડાયા હોય अब गुरु महाराज स्नान करा में जा गुरु का बलि पग पकड़ता गुरु के द्वारा समझ आता अब गुरु महाराज मंगरा है तो कहीं पढ़ाया हुआ गुरु महाराज घर पढ़ा था मेरे अब तो पढ़ता है अटकी अब तो अहम पता की अहमत में विद्या नहीं है अब मजदूरी करता महाराज भाई वो नहीं पढ़ते तो छोड़ो ने हमारे पीछे पड़ गए अब एक बात बताओ जैसा नहीं आपको पटवाना शुरू करिए हाँ आप लोग का नाम है आप आपका नाम મારું નામ ભગત સિંહ आप पढ़े आप लोग ने પંડ્યા મારા પંડ્યા आप कितनी उम्र में मैंने पढ़ाई शुरू करी आप कितनी उम्र आज तक आपको नाना शुरू किया आठ नौ आठ नौ वर्ष को होना जी आठ नौ वर्ष को दीदी मैं चालू कर दी पढ़ाई आपको ने जो टावर आता वे ज़्यादातर की उम्र अठावर आता है दस बारह दस बारह दस बारह दस क्यों छोटो नहीं तीन चार साल लोग दो तीन साल पाँच छः साल रहो वो टावर नहीं आता सात आठ बार नीचे बनाते हाँ? सात आठ बार के नीचे टावर बनाते आठ ऊपर ऊपर रह जाते ऊपर क्योंकि बेचारे बहुत ही गुना बेचारे ने कौन माता बोली आप दस साल पढ़ना है तो दस साल तक उम्र में आप कहीं करता है पानी करता पड़ता तो पड़ता फिर खेल जा फटा सिरा वाला आ गया पानी करता खेल पो करता खेलता जो पढ़वाने का योग्यता आदमी पढ़वाने की तारीख बामणा में राजपूता में जाट मार में जान पढ़ाते हैं बजाना वो छिपा गया कि मतलब, अच्छा गांव रे मायने की की जात होता पर आपके पढ़ना राजपूता आता ब्राह्मण का गया था मुद्र अच्छा, नाही आईला दुसऱ्या गावी आईला मीना गावी आईला मीना गावी आईला माधना होता मंगल माधना ही पड़े माधना अच्छा माधन नहीं है माधन का लेकिन ये जो आप पढ़ाई के बताता है तो बढ़िया होती है तो यानी बढ़िया की पढ़ाई की जरूरत थी जिसको कहा गया पैंसठ है अरे कहते राम जी अच्छे की कहते अब थाना पता हुआ मांगने की शादी कपड़ों ले जाए पचास मीटर का दूल्हे मीटर का वो शादी वो ले लेता बल बिला ले बला नहीं मिली वो गलत होता है सही हो मांगने कोई हिसाब किताब नहीं हो चांदी का बाहर सोना चांदी का बाहर तोड़ा रित्या का रहता वो हिसाब पड़ा था अब बाहर किला उठा भाग ले माने पड़ा था जिस टाइम में कि वैसा हमारा घर तो साढ़े तीन नंबर को बा दूसरिया का बेची बिका वो साढ़े तीन नंबर तो चार नंबर पा बेचता तो अपना दस किला की बेचा साढ़े तीन के तभी साया की खा तो बीस आम जट फलार लेता है अब विद्या प्रधान माल नहीं बीते फलार मांगा खोलो मेरे तो बड़े भरने पड़ता घड़ा तो बस भरने बोलता भाई कोई बात पच्चीस शेर की पर शेर बोलता अब किला हो गया पच्चीस शेर की कोई चौबीस शेर की कोई तेईस शेर की सौ बन होगी सौ बने दान का तेईस शेर एक तेईस शेर की होगी सौ कत्तो दान होगी कहेंगे पचपन दान अब पटेड़ा काम देती और नहीं था दिन बार थांगड़ा मैंने गुणा रहा अब थांगड़ा कहीं ना भाई एक बार यानी कैलकुलेटर हाँ बुझी मैं बा मां बागड़ा भाई ने कोई ने उधर मोटे साग मां या मर गए कोई बटन नहीं दिव्यो ने छुट्टियो जाए नहीं બાકી પાછી ટ્રાય બી કરવો हाँ, बाहर वाला तो होता है, नहीं करती। नहीं करती। पहले वाला से डायरेक्ट एक एक गुलाब का समावेश है। માગા ભાઈ સાહેબ આ બદલ નામ सोए रामने से लाख कोई हिसाब नहीं किए ये कहते हैं एक रुपया की पाँच से हजार मन से कितना रुपया एक तारीख अति बात मारी भी नहीं खबर ऐसे પણ મહારાજ ને કડકાતા માનીયા માનીએ હિસાબ કિતાબ હતો ચાર વર્ષથી આ બુઢે છે આદમી હતા આ એટલે બેઠ જતા હતા આ થોડા થોડા અભર જતા ન્યારા અભર જતા માનો દિન આમ જો કોટાવીટી કરતા ને કોઈ છોડ્યું गिर गया તે જવાનો કે જ્ઞાન ગંડા में आता नहीं है हाँ, हैं? कूटना पड़ता थोड़ा ना पटावट तो होती थी नहीं तो होती है भगवान प्रति नहीं होती है चन्नी की वृत्ति थोड़ी ज्यादा हो जाती है खरीद नहीं मिलती બેબીને પ્રતિ નહીં હતો મારા માણસ આવે આમ સને એકને બહેની દે એ તો બોલે ને હારા મેં કહું એ જો સોળી પટેડા આ માણસ આવે ને નોકરી તો કરશે આ માણસ આવે બાકી દૂધો ધંધો માણસ આવે તો ઘર ધંધો કરી લેજો હું નહીં પૂછ લે ને. हाँ, दुकान पे है, वो है, એ નોકરી તો કરશે વાર ને પરગેડા ને તસીદાર बाकी मन को मैं सुरेश ने कहना हूँ अरे मार साहब दूरी धंधो दे धंधो ले बहुत पावर दे तेज अरे ये यो योगिता तो दूधो कौन सा जब तो सोलह दस दस हजार बीस बीस हजार या पटवारी पेंडन ए नौकरी वाला उठा उठा शिल्पा भरे कान हो अगर नौकरी हाल लाग जा पता मरा जा ये बार से मरी जाए नहीं कहीं जरूरत थी मारा बच्चा ने बाहर एक बच्चों मारे ही हो तो दुकान पर रही हो बाबा दिन तो सुनी आज बात हो जाती है जय तो जय गई तो पटवारी बना भंडारा आज जमाएंगे बीस हजार ए यार हमारे पिताजी बना बीस हजार में। और तेरे को नहीं बनाए तो चुप ये तो सुन आपने ऐसे वो बीस हजार या भी पटवारी बना मैंने छोड़ दिए जितना से बेटा भी बीस हजार में दे दे बाकी आपने कोई नहीं मिली उसी को बढ़ना याद हो गया और पार्टियां याद भी की પછી મને लिखा वाला अभ्यास की कर कराता है दोबारा तो कराता है दो और दो भाई करता मैंने चार चार चार करता है आठ एक और दो ये लिखनो की कर बताता है पार्टी बाटा पार्टी लगता है एक बढ़ तो और कोई लफड़ा को ना काफिया पिपिया दुआता बना कुछ नहीं पर तो उतना आँख जमाना पड़ता नहीं हाँ, तो समझा था कि कर आपके भाई एक दो लिख नहीं आया बगल नहीं करता है ये करता है ये मैं अच्छा, आंगली पकड़ना मतलब हाँ ಅಯ್ಯನ್ ಮಾಡ್ದಾಣನೆ ಈಗ ಪಗಡಾಂಗಲ್ಲ एक मानता जिसके लिए कहता कि आप ये अमीरी मान रही है अब तो कुछ को बारे बढ़ जाए बहुत हो जा रहा है अच्छा सीधा है तांगला टांगड़ा भांगड़ा घर गुजरा गलत है मैं तो नहीं गलत समझा है वो तो एकदम वो जाल है इंसान ने मट्टी मलाबो है अपना ही मिट्टी मलाबो है कौन बहुत तो कर दो रात ना હવે માંગણ કાંઈ નથી કરતા હું કાંઈ કરતો અક્ષર બદલતા હું કઈ કહેતા જૈસે પક્કો માંડવાને કી તરીકા હું કહેતા આપકે પહેલા યા લાઈન કહેતો હો યો ચૂલો પહેલા કાંઈ દાઈએ લાઈન કાંઈ છે સીધી કાંઈ દો લાઈન ને કી કહેતા લીગટી અચ્છા લીગટી એક લીગટી કહેતી પછી લીગટી કાંઈ પછી આડી ખાને ભાઈ પાંગડી આવો હા હાજી કે સારો કનો ઓલો અહીંયા લે એને કઈ કહેતા કક્કો એને કહેતા કક્કો મૂર્તિઓ કઈ બનાવે મતલબ ચૂલો બનાવે નહીં નહીં એ નહીં તો એમ તો કહેતા ભાઈ અહીંયા એ સુરસુર જાઓ અહીંયા કાં લઈ ગઈ અહીંયા બનાવે અહીંયા હવે નીચે લઈ જા કબૂતર કબૂતર માંગના કોના માંગા તો કોઈ ટુકડો છૂટા કોની જીની અંગલ ગાવાની ગાય ગાજીઓ ગોઠલ્યો અને પણ તેની વડાયો आगे प्रश्न इसने उठ गई क्यों तो आखिर में हाँ तो वही पढ़ो घूमना पड़ता था मेरा यहाँ टा टा टा ना टा टा टा ना तो मेरे लगा सा एक साथ लग गया पसी तो पड़ा पहला बार गया दिखा काटी सब रटना पड़ता सब रटना पड़ता अच्छा रोजना रोज आगे मारनी होती रोज पढ़ाई होती है हाँ। तो भाई आता सब मारता आप प्रार्थना बोलता मैं तो तो अक्षर बोध करा दियो और પછી કહીએ મેં તો કક્કા કક્કા ये सिखा दिया और પછી ये अपने अ, आँख सिखा दिया गणित री पाटियां याद करा दी પછી વાક્ય કી કર બનાતા મતલબ વીરો की कर करता है पदमानिया करता अचानक शाम या चार पांच जगह कोई लोग बाग आता पदमानिया पूछता मैं पढ़ाई बच्चे को जल्दी मैं मैं कटवा पर पढ़ाई करता मैंने पूछा बोल भाई किसी गली में दोष है अब बीस लड़का बैठा अब मैं कहते सारे बिंदा दोष है दे चापटी बोलो किसी गली में ढाई सौ वो पच्चीस हजार दो सौ पचास रुपये यहाँ निकाल दो शाम आठ होती बात पढ़ाई हम्म। बस आने वाले मैं तो बहुत बढ़ी जाता हूँ पद बाने में जोड़ सका था और दो चार पाँच साल पार्टी पत्रिका आदि दो क्या क्या सात साल आठ उसमें मान लिया गुलाब गोल कर बस बाकी डाल दी वहाँ पे चल रहा था लेकिन आगे नहीं भाई नहीं महीने भाई बस भाग तो बाग गए यहाँ पाँच सौ सात सौ आठ सौ नौ जैसे मान लिया पाँच को बाग करने वाला था पाँच को करना था दस को करना दस को पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस तो पाँच के बाद में तो आप पावड़ा काम में ले लेता बस हाँ। अच्छा अब आधा हिसाब महीने पावड़ा काम आ जाता है बाकी में पावड़ा काम नहीं आता बाकी में बाकी में तो, बाकी में भी आता ही बीस मंजिल ले जा हाँ। बीस मंजिल दस जा लाए हाँ। कहते लिए भाई तो दस दुआ बीस लेकिन बीस में साथ गया तो साथ गया तो राम जाए पावड़ काम नहीं आता पावड़ काम आ जाता हाँ, पावड़ काम नहीं आता कौन आता और अभिशाप कराता अभिशाप का मानो अपनी बाड़ा काम आप एक चावल किसका वक्त तक रहते तो माने तो तीन वर्ष तीन वर्ष योग्यता लड़को है तो वो फोटो हो लड़को नो और थोड़ा बहुत ही बड़ा थोड़ी दर्द भी हो वो तीन साल वर्ष का स्कूल जाता है ધીરે મહિને આપવાની જે પદ્ધતિ એ પડાવવાની તરીકે હું કોઈ ફાયદો થઈ શકે કે हो अपने हो सके કોણું પણ નો वो आदमी को चेतो सो पढ़ सके जिसको चेतो नहीं माने वो धीरे धीरे टीम ले ली अच्छा अब ये आप लीलावती गणित में कहीं पढ़ाता है बस दुआ है बस किताबों का मान है कैसे होता है तुम्हारा लीलावती गणित दिखाओ तो। लीजिए ये क्या है तीन कोण का खेत खेत पर निकालने की रीति त्रिकोण के डोरी दीजिए मतलब तीन खुणा में डोरी लगा दो दो पांति की छोड़ एक पांति की उरी लीजिए क्या मतलब दो पांति की छोड़ एक पांति हाँ, तो दो पांति ये एक निकाल दी मान लीजिए या इसको निकाल दिया दो पांति की उरी लीजिए लंबा इसमें गुणा करीजिए हाँ, अच्छा बीच રીતે બીચમાં નથી જાય લંબાઈ गुणा કરી જે સોહી ઉત્તર ગીન લીજે आदि अंत भेड़ा करो यो आदि यो अंत आदि अंत भेड़ा करो आधा घोर उचंत आधा घोर मध्य ईट लांबी धरो मध्य ईट लांबी धरो खेत में आप लोग काम रहे हैं आठ प्लस तीन इज इक्वल टू ग्यारह तो आठ तो यहाँ तक है और तीन ये है हाँ, तो हम्म। हम्म। ग्यारह में दो भाग करो जो तो साढ़े पाँच अब चौड़ाई हुई साढ़े चार हाँ साढ़े पाँच हाँ। और साढ़े पाँच और लंबाई सोलह हाँ, लंबाई सोलह सोलह पाने अस्सी हम्म। सोलह हज़ार हो गया अट्ठासी का है अपना बीस हम्म। बीस को बारह बीस को हुआ ना हम्म। तो बीस हजार जयपुर की उपराड़ी गुरु चेला की कोई कहे कि एक रुपया की पूना चार से तो पूना चार रुपया की कितनी आवे तो ऐसे ही हिसाब में पूरे को पूरे से गुणा करके फिर उसका आधा घटा देना फिर आना भरी की चक्की रख देनी तो सही उत्तर आ जाएगा जैसे एक रुपये का पूना चार तो ये तो से तो पूना चार से तो पूना चार रुपये तो चार चार सोलह मैं इसमें चार का आधा हो घटा दिया तो चौदह चार का आधा दो घटा दिया तो हो गया चौदह बाकी रहा इस पर आना भर लागत की रख दी तो उत्तर पूरा आ गया नहीं पढ़ सकता मैं हम्म, ये सोलह ना था हम्म। वो अनु वो आना भरे हम्म। तो वो आना भरे और आप कर सको या नहीं हाँ, तो कुछ कम पड़ गया जाना है ये वक्त याद है हाँ तीन फर्क बैठा दे तो ये तो आगे किताब मैंने किताब नहीं मेरा और दो को हिसाब हो मांगने को पट्टी पाओ हिसाब हो हम्म। तो दो को हिसाब पूछो जामो मिलेगी एक हकीम किस बीमार के घर पर गया तो उस उसकी नबस देखकर उसने एक दवा बताई विचार तो जायफल चार तो जायफल चार छुमारा चार सुपारी चार लूंग अब इसको एक पैसा लेकर दवा के लिए भेजा तो कितने कितने कोड़ी की कौन कौन सी चीज़ लाया उसने जाकर एक पंसारी से पूछा कि जायफल छुहारा सुपारी लूंग पैसे के कितने कितने देगा तो उसने कहा कि एक पैसे के पाँच जायफल एक पैसे के पच्चीस छुहारा एक पैसे के एक सौ पच्चीस सुपारी एक पैसे के पाँच सौ लूंग अब उसने कैसे खरीदा पहले जाकर आदमी ने एक पैसे के पांच जायफल लिए उन पैसे में से चार तो अपने पास रख लिए और एक जायफल कर छह छुआरे ले लिए फिर चार छुआरे का अपने पास रख लिया और एक छुआरे की पांच सुपारी ले ली उसमें से चार सुपारी तो अपने पास रख ली और एक सुपारी देकर उसके बदले चार लूंग ले लिए यही उत्तर तो है अभी मैं अभी मैं अभी मैं जान लिए वो तो पढ़ाई लिखी हुई है संस्कृत के अंदर और प्राकृत के अंदर उसके अंदर ये सवाल नहीं है लेकिन वरण यहाँ के रोजमर्रा के काम की चीज की है तो यहाँ के गुरु ने उसको वरण के ऊपर लागू किया क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी के काम की चीज है तो उसकी गणित जो है वो अपने आप आसान हो गई क्योंकि उस गणित के बिना नित्य भी उसका काम तो चलता नहीं है तो जो जिस तरह का काम कर रहा है उसके लिए अलग गणित अब उसमें क्या हो गया अब गणित हो गई अलग और आपका काम हो गया अलग तो इसलिए हाँ, गणित तो हो गया बड़ी मुश्किल गई चीज कि वजन वो कहीं हिसाब हो आप देखने गाँव रमाना हाँ सुनारी तोल कहीं हाँ अभी तोला मासा बारह मासा एक तोड़ो गंदा रहने वाला तो अच्छा, लेकिन अब मैं मासा नीचे जाऊँ वर्षा तो? हम्म। रहती रहती कितना रहती रहो एक मासा अच्छा रहती तो को आठ अच्छा, को अच्छा सबको चरमी चरमी निकल रहती और ये आठ रहती एक रहती कितना रही अंदर तो ताउन रहता भी आठ कशकश हाँ। और भी कोई नाप जो जो तिल अड़ो भी कोई नाप होगी आता जो हुए तो एक व्यक्ति हो जाए आता तिल हुए तो सावणो ही साहब बेटो सावणो अब सावण में तो बड़ा छोटा ना ही पीछा सावण ले तो बासमती ले तेलिया ले खीर का ले तो क्या होगा आठ दिन से रद्दी कर दी तो ये तो पूरा बीज लेंगे पूरा जो एक सीट होगा वो ले लेंगे लेकिन तिल और जव का भी हिसाब है क्या इसमें चावल ही है अपने चावल और कब चावल चावल ही होता हम्म। तो और जो जो और घणो घणो वजन कहीं मानिस तो ये तो कम कम में भी हो ज़्यादा से ज़्यादा वजन कहीं भी तो मन है दो मन है किसान मन तीन मन हम्म। पांच मन और बारह मन बारह मन की मणि है बारह मन की मणि मणि बोलता है बारह मणि और यूं ज्यादा बस यूं आगे नहीं इस तरह के नाप की कर करता है अब जैसा कि किताब मैंने देखी हो हाँ। ये नाप कहीं है सोलह लिखी उड़ा है ये कहीं है और तो गणितकार का सोलह है कहीं कहीं नाप तो मैंने चीजें कई की चीजें घोड़ो पाता नहीं नहीं ये जो अपन खेत नाप खेत तो नाप करना डोली नापनी है खेत नापनो है तो बांस हम्म, का तो अच्छा कल तो छोटो आप छोटे तो- अब बीस बांस हो गया हम्म। अब बीस मास हो गया सवार वो बस बांस हो गया बीस बांस मतलब एक पाउंड और एक बांस कर लेता जोड़ पाउंड जोड़ और एक बांस तो पच बीस बांस थोड़ी गया पच तो कम हो गया हम्म। आपका बांस कितना फिट का बाहर फिट में बात कर रहा फिट में गड़बड़ हो जाएगा मेरे सब यानी कि पाउंडा वो पाउंडा क्या है हमारे वहाँ भी एक पाउंडे का बांस उधर बोलते हैं हम्म। अब उसमें तो इनके जो है वो बांस बड़ा होना चाहिए वहाँ से डेढ़ है मतलब डेढ़ा है तो इस हिसाब से डेढ़ पाउंडा ही बता रहे हैं या तो ढाई का होना चाहिए तो दो पे एक पाउंडा होगा हाँ। तो ये अपने उसमें लिखने का तो फिर ये बांस रहता था तो अच्छे सारा नाप जो है वो बांस के साथ ये बीस बांस हो गए हम्म। ये आप क्यों अवेदन रखे हो ये बांस ने वो तो ट्रैक्टर है और आत्मा में संतोष कोने पे हम्म। थाके बंद मारे भी बने कल्याण में संतोष हो पाउंड हम्म। दे दी था ने आज आत्मा की जागृता की जमीन थी माँ ले नहीं थी अब तो थारी मारी होगी तो मर गया अंगला में जमीन में नहीं वो लेना देना ये पड़ती हस्ती है ये दोनों भाई जाके जो जोड़ा बटन ने आ कह रहे कहीं जोड़ ना पो यार ये परसों तो भाग नाशी हो ना पहले भी डोरी सोच की डोरी पड़ी तो डोरी तो कम ज्यादा हो जाती थोड़ी खेच ले कल सही नापती है जरीब जरीब नहीं रास्ता है जरीब आज जरीब डोरी ले लेता यदि कोई नहीं हुई तो जोर से काम करिए अब अच्छा ये उत्तर विज्ञान आप आप कुआरो नाप की कर करो कुआरो नाप तो वह कच्चा ढूंढ है हाथ हम्म। हाथ हाँ। एक हाथ के नकी के कितने मानो आप अट्ठाईस हम्म। ये तो अट्ठाईस अंगड़ों में मानता बनी है एक हाथ अट्ठाईस अंगड़ों हाँ, पहले अट्ठाईस का और अब आज का पाँच को नापोगे बत्तीस जितनी लंबाई है व्यक्ति या पुरुष है तो साढ़े तीन हाथ होनी चाहिए आदमी जो लंबाई साढ़े तीन हाथ है हाँ वो हाथ वही है हाँ तो चौरासी आंगन ठीक है सही है बताई थी चौरासी सही है सही है और ये एक बिलात की तरह बिलात नाप तो हुई जो इन आपने कहीं कहते और पुट પૂરતો ને જમાનારી વાત હતી આપણને જમાનારી વાત હતી વાત તો ભલે પૂરતો વિશાલ તો છો આપણે એ કામે નીકળી લે નયો આવ્યો છે બારું આવ્યો છે સારું છે અંગ્રેજો થયા એને તો ઢાઈસો સાલ વીતે સોળાસો ને कुछ में आ गया पहली बार तो पुरतुता પણ हिसाब नहीं लेकिन अच्छा अब आंगल छोटो छोटो नाप कशो है एक आंगल मत तो ಅಂಗಳ बस आंगल आधी आंगल के ಆಂಗ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ಅದೇ में यो नाप को दी आप करियो कि ये ई नाप ने कहीं कह ये काम नहीं आया कभी और एक यो जो है इन्हें कहीं कहवा इन्हें ताल ताल भाई बे तालाब पानी हाँ। बताओ अपन तालाब में दो ताल है अच्छा, अब एक बात बताओ मैंने कि गहराई ગેરાઈ वास्ते तो ताल और पुरुष दो ही काम आवे लेकिन कोई ऊंची इमारत बड़ी बड़ी है तो विनय की कर नापा करना तो जेवड़ा नाम नहीं था बड़ा जेवड़ा रहा था गाड़ी बरवा कर वी नाप ने कहीं कहता विनय पुरुष तो कहता को नहीं ताल भी कहता को नहीं जब कहीं कहता विनय का हाथ वर्णवा किताब कुंडो पचास हाथ कुंडारी तो है अब या गुणियाऊ हैं तो वह बराबर नहीं अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है तो, तो गड़बड़ में जाए तो वो गुणियों की कर काटा हाथ बार तो फुट है एक हाथ प्रभु अच्छा अब पुटो औसंधा नहीं अब बाद में चलो आंगण्या पर वो गुनिया आंगली से बनियो हम्म? वो तो हम्म? हाँ, हाँ। गुणी के भी नहीं अब अवटाइम मित्र तो छोटा काम रहता हाँ। ए मामला घटे मामा जबर चिलाई जबर दरबारा हाँ। अब हमारे छोटा ठाकरा मामा हाँ। तो वो कोई मक्खियां बक्खियां मक्खियां होती ना कोई मक्खियां जिकी कोई डोरी आ रहा मैं देखता और मांगना डोरिया भरे कोई आती नहीं कोई जाती कारीगर अचानक मामा मान को एक दो लाट था तो वे डोरियां करता कहीं मैं चाहता हूँ ये कर लेता जिनमें तो आंकड़ों काम है एक ये जो ये रेखा खेचन विरोही क्षेत्रफल निकालता है इन्हें कहीं कहता आप इनके डोरे कहता और इनका नाम जैसे अंक गणित है वैसे तो आया मतलब कहीं पर ट्रेडिशन के अंदर बीज गणित हमें तो इसमें तो लगता है ज्योमेट्री को काम में लिया है तो इसी के अंदर हो सकता है कि ये ट्रायंगल का खेत है जो स्क्वायर का खेत है रेक्टेंगल का खेत है उन सब के नाप जो जो होंगे उसके अंदर होने चाहिए तो जो ऊंचा पढ़े लिखे मार्च मतलब जाती ऊंचा पढ़े लिखे मैंने ऊंचा माना जो माना है मांगा आ गया काम मांगा आ मुझे मैंने दुआ तो भाई मुझे माने बड़े उछारू मेरा खरबूजा था एक शेठ आता अच्छा बच्चे ने खरबूजा खिलाओ भाई और वो डोले मेरे मेरे ચવાય બચો આ ખરબૂજાના બીજ બતાવો માણસ ખરબૂજાના બીજ બીજ બતાવો ભાઈ લખીને ગણતા ભૂલ જાઓ માતા કઈ જાવા લખીને જોડી લગાય ગોળાકાર હતા બીજ હતા ચાલો થાળે ગમાન ગાલ માની ગાલમાં બીજાને ગમાન ખરદાજી માં બીજને ન્યાય પડી ગયા ખરદાન જોતા બીજ બતાવો લકીરિયા હું એક લકીર में कितना बीज देता है गुणा बाग जोड़ बाकी रहा कांटा भी है कि कांटों पाचो देख लेना सही आयो नहीं आयो बस कोनो अब वो ऊंची पार्टी न हो सको मम्मी छोटियां कोनो तो कोई जोड़ सही है एक नहीं है कोई कांटो होगा कोई बेटा मैंने जाता दोबारा फिर रटन लगा था अभी तो वो तो एक बार गलती हो जाती है तो गलती मतलब वो भी नहीं वो एक बार जोड़वा लगा सात नौ पंद्रह सात नौ पंद्रह तो थोड़ा वही मैं मैं तो बता नहीं नहीं पर गलती होगी बच्चा होगी तो क्या नहीं वो मांगन को कांटो कांटो ये एक बार बताओ देखा आपने माजनी सिखावट है लेकिन माजनी सिखावट के कांटे में के पक्ष तक जाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वापस उस वट की सिखावट के लिए बढ़िया सामने नहीं था तो जिस हद तक जरूरत थी उस हद की जरूरत तक शिक्षा का क्रम तो वो हरमाड़े का शिक्षा का क्रम और मोरडे का शिक्षा का क्रम उस हिसाब से बदल गया <laughs> ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಅಟೋ ಆ ಕಡೆ ಅಟೋ ಮಗ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ ಆಡ್ದವ ಅಭಿನು ಲಾಗೈಸ ಹತ್ತು ಗಂಟು ಅಭಿನು ಇದ್ದ ಪಾಂಚ ಮಿನಿಟ್ बड़ा लोग काम करवाना टाइम मिले जिस दिन कैन पटा सकता जल्दी जल्दी बस कड़वा आना चाहिए ओ सिखाओ सिखा दिया सिखा दिया सीधे सीख ले सीधा का मान तो कहीं गए हिंदी की पुस्तक मान भी बोल सीधो पढ़ लिया सीधा सी मेरी किताबों पुस्तकों को एक बात बताओ बड़ी उम्र आदमी में ठीक जल्दी याद हो जाए कि नहीं भाई बड़ो आदमी रटती आराम नहीं सके टावर ठीक रट सके टावर की तो बुद्धि काम करे बड़ा बुद्धि किसी काम करे बोले दिमाग काम नहीं करता बेटा बाकी गोखे में विद्या बना मांगा बेटा तो गोखन थी हाँ तो सुबह पावड़ो गाल देता वो पंद्रह को पंद्रह पावड़ गाल देता शाम तो पंद्रह पंद्रह को कहीं देता शाम पक्को तो सुबह भी फिर माँ बाप सुबह आता है बोलो बोलो पावड़ो हाँ, दूसरा दिन அது ஒரு பண்ணி பாடம் பக்கத்து